โอ้โห भगवत गीता अष्टादश अध्याय छठ नंबर के श्लोक जो विशेष था इसमें पूरी गीता का तात्पर्य किसमें है ज्ञान से मोक्ष है अथवा कर्म से मोक्ष है तो थान थान पर ज्ञान की चर्चा है थान थान पर कर्म की चर्चा है कैसे वेदा विनाशनम नित्यम एनम अजम ज्ञान की चर्चा कर दी द्वितीय अध्याय में कर्मण्यवाधिकार माँ फल सुखदाचन में कर्म के विशेषता बताई हुई है तो ये सब विचार करके निष्कर्ष क्या निकलेगा ज्ञान से मोक्ष है कि कर्म से मोक्ष है और ज्ञान कर्म दोनों जब दिखाई पड़ता है तो एक दोनों मिलकर सम्मिलित होकर के मोक्ष की संभावना है दिखती है तो तीन कोटि करके विचार कर रहे हैं मोक्ष किससे होगा जीवात्मा के संसार जन्म से चक्कर से छूटना ज्ञान से है अथवा कर्म से है या उभय मिल करके ज्ञान कर्म समुच्चय से ये विचार चल रहा था चलते चलते चल रहा है तो <clears throat> देखो वेदांत में ऐसा होता है अद्वैत वेदांत में तीन सत्ता को लेकर के चलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता जैसे स्वप्न में जब तक हम लोग होते हैं स्वप्न के पदार्थ सत्य होते हैं तब तब तक जब हम सत्ता को बदल जाते हैं व्यवहार में आ जाते हैं जागृत में आ जाते हैं तब हम उसको असत घोषित करते हैं स्वप्न के वस्तु मिथ्या घोषित करते हैं तब वहां बैठ के मिथ्या घोषित नहीं कर सकते इसी प्रकार अभी हम वर्तमान में व्यवहार व्यवहारिक सत्ता में बैठे हैं यहां बैठ करके ये जगत का निषेध नहीं कर सकते इसको मिथ्या नहीं कर सकते जगत को यहां भी सत्ता बदलनी पड़ेगी पारमार्थिक सत्ता में जाना होगा शिवम शांतम अद्वैतम उस भाव में पहुंचना होगा आत्मभाव में पहुंचना होगा देहादि भाव से अतिरिक्त होना होगा तब उस काल में सब ये मिथ्या दिखाई पड़ेंगे अज्ञान से होना समझा जाएगा क्यों तो पारमार्थिकता में अज्ञान नहीं है तो अज्ञान जन्य कार्य भी नहीं हुआ ये समझ रहा है पारमार्थिक सत्ता से ही सबका निषेध किया जाता है व्यावहारिक सत्ता में बैठ करके व्यवहार का निषेध नहीं होगा शास्त्रादि जो भी है सब व्यावहारिक सत्ता में है ये सब सत्य है पुराण सत्य है कर्मकांड पर सारे शास्त्र सत्य हैं सब सत्य हैं हाँ। कब तक जब तक हम आत्मज्ञान आत्मभाव में नहीं पहुंचेंगे और सत्य है वहां जाने को मिथ्या को सिद्ध होगा जो समझना है यहां जो निषेध करते हैं त्रैकालिक निषेधादि जो किया जाता है पारमार्थिक सत्ता में बैठ करके है आत्मभाव में पहुंचे हुए व्यक्ति की बात है वहां पहुंचने पर निषेध होगा इनका यह मिथ्या घोषित होगा अज्ञान जन्य सिद्ध होगा शास्त्र आदि सबके सब ये कहना है ये चल रहा था सारे कर्म जो भी होते हैं चाहे शास्त्री हो अशास्त्री हो जितने भी कर्म होते हैं सबके सब अज्ञान काल में ही है जो अज्ञान जन्य होता है वो मिथ्या होता है झूठा ऐसा तो टीका से देखता इस पहले का देखता ये मत कर्मकृत इत्यादि न्याय ना जो तो एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था मत कर्मकृत मत पर्वो मत भक्त संगवर्जिता निर्भय सर्वभूत समापित पांडव इत्यादि युक्ति के द्वारा बनी युक्ति है युक्ति से भगवत कर्म कारिणाश थे भगवान के लिए कर्म करने के स्वभाव बन गया जिन लोगों का ऐसे लोग थे ये लोग यद्यपि युक्त तमाम द्वादश विद्या में जाकर भगवान ने कहा वही मेरे लिए उक्ततम है बोला कौन मई अभ्यस्मरो ये माम नित्य उक्ता उपासत है संकया परोपेता ते में आता युक्तम कहा है उनको भगवान के लिए कर्म करने वाले युक्त ही नहीं युक्तम कहा अतिशय युक्त तो ते माने वही लोग यद्यपि युक्ततम यद्यपि युक्तम है भक्त फिर ज्ञानी नहीं रहा युक्तम वो तो युक्त में आएगा मैंने भगवान के लिए कर्म करने वाले के लिए मैं हाँ, निष्काम कर्म कर रहा हूं युक्तम हो गया मैया विश्व मनो युक्तम कहा हुआ भगवान ने अपने शब्द में मैया विश्व मनोहिमान नित्य युक्ता उपास अर्जुन का प्रश्न था दो एवं इत्यादि के द्वारा एवं सतत युक्ता है भक्तास्तम है ये चाप्यक्षर व्यक्तम तेसाम के योगवित्तम योगवित्तम कौन है युक्तम कौन है भक्त दो भक्त तो में ज्ञानी और कर्मी ये लेकर प्रश्न है यहां अर्जुन का अक्षर अनुग्रह के द्वारा ज्ञानी को लिया हुआ है और कर्म करने वाले को एवं सतर्कता का इस प्रकार निरंतर आपके लिए कर्म करना आप ही पारायण होकर के रहने वाले हैं कहा इनमें से युक्ततम कौन है दोनों युक्त तो है भगवान के काम कर रहे हैं दोनों युक्ततम कौन है पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया मैया विस्मर एवं नित्य उगता उपास श्रद्धया परोपेता ते मैं युक्तम होता भक्तों को कर्म करने वाले को बोल दिया युक्तम पौधा है युक्ततम तो है वो किंतु ज्ञानी तो आत्मा भी मैं पता कहा हुआ है सप्तम अध्याय में ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है वहां पर युक्ततम अयुक्त तो कुछ नहीं होता अपने स्वरूप में अपने से भिन्न में होता है ये युक्त है युक्ततर है युक्ततम है कर्म कार्यों का युक्तम कहा किंतु ज्ञानी में तो मेरा स्वरूप ही बताया हुआ है सप्तम अध्याय में और ये युक्तम कहने से भक्त ही श्रेष्ठ है ये ज्ञानी श्रेष्ठ है ये सिद्ध हो जाता है ये कहना है ये मत कर्म कृत इत्यादि न्याय नियुक्तिया भगवत ने जो तो भगवान के लिए कर्म करने वाले हैं एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक को देखते हुए जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसे लोग थे यद्यपि युक्त ये लोग यद्यपि युक्ततम है ठीक है तथापि कर्मणो अज्ञा संत फिर भी जो कर्मी है ना वो कर्म करने वाले हैं अज्ञानी है वो युक्ततम होने पर भी अज्ञानी है न भगवंतम सहजागंत भर दे एकाएक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते लोग कौन कर्म ही परंपरा से पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे एकाएक नहीं और ज्ञानी होगा पहुंचा हुआ होता है विशेष है ये कहना है दिव्य भगवान के लिए कर्म करते फिर भी एकाएक सहसा मन एकाएक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते आत्म प्राप्त नहीं कर सकते परंपरा से प्राप्त करेंगे तेसाम अद्यत्व गमकम जो भगवान के लिए कर्म करे माने कर्मी लोग अज्ञानी है बोल दिया माने तेसाम तो अज्ञत्व अज्ञानी मान्य में गमक है दृष्टांत है क्या है ज्ञापक है ये क्या ज्ञापक है उसी द्वादश अध्याय में आगे जाकर के जो कर्म करने वाले को चर्चा किया उनके लिए भगवान कहते हैं मई एवं मनादस्व मई बुद्धि निवेश निवेश मई एवं उत्तरतम से मेरे में बुद्धि लगाओ मेरे में मन लगाओ इससे परिणाम क्या होगा मेरे चिंतन में लगे रहो ऐसा करने से मेरे को प्राप्त हो जाओगे इसमें कोई संशय नहीं ऐसा कहा उत्तम साधन बताया यदि तुम तुम्हारे से नहीं हो सकता ये काम मन बुद्धि मेरे पर नहीं लगा सकते निरंतर नहीं लगा सकते अथ चित्तम समाधान पुनः सपन अब नीचे उतर गए भगवान नीचे उतर के बोलते हैं उत्तर उत्तर हीन साधन बता दे गए छोटे छोटे साधन बता दे गए उत्तम उत्तम साधन को त्याग कर छोटे छोटे साधन अथ चित्तम समाधात्म स्वकृष्म मेरे में चित्त एकाग्र नहीं कर पाते हुए भी बड़ा तो वही था मैं ये बमन आत्सत्व वाला तो अभ्यास होगा तो, तो माँ इच्छा बार बार अभ्यास करो चित्त मेरे में एकाग्र करने के लिए मेरे प्राप्ति की इच्छा करो कहा अथ ही तद्य सत्व ही यदि माने चित्त एकाग्र अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो क्या करना फिर मत कर्मा परमो भगा मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ हाँ। मदर्थ मत कर्माणी पूर्व सिद्धि में वापसी मेरे लिए कर्म करने से भी पापों से पार करोगे सिद्धि को प्राप्त करोगे मुक्त हो जाओगे हाँ। वहां भी कहा माने अठई तदप्य सब तोषी मत कर्म प्रव मदर्थम मपी कर्माणी कुर्बन से आवश्यक अथई तदप्य सब तोषी कर्तुम मध्योग आवश्यक ये भी नहीं कर सकते हो मेरे लिए अनुष्ठान करो योग किया है सब कर्म का फल त्यागम तत्व करता सारे कर्म करो जो भी करो जो होता हो कर नहीं सकते हो इष्टानिष्ट सबके सब जो भी करो उसका फल का त्याग करो ऐसा कहा हुआ भगवान ने कहा माने नीचे नीचे उतर करके कहा किसके लिए कहा कर्म करने वाले को कहा इससे सिद्ध होता है अज्ञानी है वो ये टीकाकार बोल रहे हैं यद्यपि उत्तरमा तथा भी कर्मणो अज्ञान फिर भी कर्मी होते हैं जो अज्ञानी होते हैं क्यों अज्ञासा तो न तम सदा में रहते भगवान को एकाग प्राप्त नहीं कर सकते परंपरा से प्राप्त करेंगे क्यों तेसा अज्ञत्व गम गम कर उनके लिए अज्ञानी में ज्ञापक दिखाते हैं ज्ञापक यही श्लोक है आगे जो क्या क्या आपका बताया उत्तर उत्तर का भाष्य में कहा था उत्तरोत्तर इत्यादि शब्द से कहा था भाष्य में उत्तर उत्तर हीन फल त्याग त्याग अवसान साधना उनके जो तो साधन कैसे हैं आगे आगे के फल त्याग अंतिम में जाके फल त्याग को कह दिया भगवान ने पहले तो कहा था मेरे में मन रखो मेरे में बुद्धि रखो ये नहीं कर सकते अभ्यास करो अभ्यास नहीं करो तो मेरे लिए कर्म करो कोई भी नहीं कर सकते हो तो फल त्याग करो ये नीचे नीचे उतर करके भगवान को दिया द्वादश अध्याय में पहले जिसको उत्तम कहा था द्वितीय श्लोक में आगे जाकर के नीचे नीचे उतर के बुध दिया है इसलिए हीन साधना वाले होते भक्त लोग माने उत्तर उत्तर हीन है पूर्व पूर्व वाले उत्तम है क्षेत्राध्याय और क्षेत्रादि तीन अध्याय में कहा हुआ है क्षेत्राध्याय में त्रयोदश अध्याय और चतुर्दश पंचदश अध्याय जो साधन बताया हुआ है ये कहते हैं क्षेत्रादि क्षेत्र क्षेत्राध्याय अध्याय त्रय उक्त साधना उक्त ज्ञान साधनाश्च ये तो आगे जाकर बोला अनिर्देश उपकाश तो इत्यादि था टीका होगी इसकी टीका से शुरू होना होगा ठीक है कहते चित्त समाधानम आरंभ है सबसे पहले वह साधन बताते हैं चित्त को एकाग्र करना मेरे मई व मन आदस्व मई बुद्धि निवेश बोला हुआ है निवेश मई व उत्तर तुम संशय द्वादश अध्याय में साधन की प्रक्रिया बताई सबसे बड़ा साधन मन में मैंने चित्त को मेरे में एकाग्र करना बुद्धि को मेरे में एकाग्र करना स्थापित करना उत्तम साधन यहां से आरंभ करके नीचे नीचे उत्तर उत्तर के बोले आगे ये नहीं कर सकते तो ये करो ये नहीं कर सकते तो ये करो सबसे पहले उत्तम साधन बताया है यही कहा चित्त समाधान आरभ्य चित्त के एकाग्रता के आरंभ करके और आगे फल त्याग पर्यंतम अंत में फल त्याग की बात कर दी अंत में अथई तत्व सप्तोषी कर्तुम बद्योपाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा गुरु यथात्मा आगे बोला श्रेय ज्ञानवाभ्यास ज्ञान ध्यान विशिष्टते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग शांति अंतर इत्यादि कहा हुआ है फल त्याग पर्यंतम तो पाठक्रम है जो पाठ का क्रम देखते हैं वहां कहा द्वादश अध्याय में मैं ये गोपन आदर्श लेकर के अंत में फल त्याग की बात है पाठक्रम है उत्तर उत्तरम पाठक्रम से उत्तर उत्तर और अर्थक्रम से पहले पहले वाला श्रेष्ठ है साधन पाठक्रम से देखने पर उत्तर उत्तर छोटे लगते हैं हीन साधन उपादान का छोटे छोटे साधन का उपादान करने से ग्रहण करने से अभ्यास असामर्थ्य से यदि अभ्यास में सामर्थ्य भगवान में चित्त लगाने के लिए अभ्यास में सामर्थ्य नहीं है जो उसके लिए अभ्यास सामर्थ्य से भगवत कर्मकारित्व तो अभ्यधारा भगवान के लिए कर्म करने को कहा और भगवंतम कर्मकारी नाम अज्ञातम विज्ञातम कहते हैं इसलिए क्या होगा कि भगवान के लिए कर्म करने वाले जो होते हैं अज्ञानी सिद्ध होते हैं अज्ञान काल में कर्म करते हैं लोग ये सिद्ध होता है ये कहा होगा है और यत्व सर्वण दर्शन करके ज्ञानी की बातें आई वहां यत्वक्षर अव्यक्तम तेसाम जय योगवित्तम करके अर्जुन ने पूछा हुआ है दोनों में से कौन उत्तम है यत्वक्षरवण दृश्यम इत्यादि वाक्य अवस्टम देना यत्वक्षरवण दृश्यम अव्यक्तम परिभाषते सर्वत्र गमचिंतम च कूटस्थम अतल ध्रुवम संयंद्रे ग्राम हम्म। ते प्राप्त मंदिर वहां पर सर्वोदय इत्यादि है तो ये जो द्वादश अध्याय में जो ज्ञानी के बारे में आया है जो अनिर्देश है जिसको वाणी के द्वारा निर्देश नहीं किया जाता मनवाणी का विषय नहीं होता जो मुख्य भगवान जो होते हैं निर्विशेष आत्मस्वरूप यद अनिर्देश अव्यक्तम पर अव्यक्त है व्यक्त नहीं है हस्तपाद रूप से दिखते नहीं ऐसा वस्तु है परिभाषित है सर्वत्र सर्वत्र व्यापक है जो तत्व अचिंतम च मन का विषय भी नहीं है अचिंत्य है अचिंतम सर्वत्र अचिंतम से कुटस्थम माने दिलेप है कितने संसार बने गए वह फर्क नहीं पड़ता उसमें कल्पना है सारी जितने बार सृष्टि हुई इसी निर्विशेष सृष्टि की कल्पना हुई प्रलय भी उसी में दिखता है किंतु उसमें खर्च नहीं आता अचलम चलायमान में व्यापक है क्रिया नहीं क्रिया शक्ति से रहित है ध्रुवम स्थिर है सम्यन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया जो लोग ऐसे होते हैं अपने इंद्रिय ग्राम को माने नियंत्रण करके इंद्रिय समुदाय को नियंत्रण करके सर्वत्र समबुद्धि में पहुंच जाते हैं जो साधक भेद बुद्धि समाप्त कर जाते हैं जो लोग ते प्राप्त बंदे महावेव सर्वहित सभी भूतों में भूत के हितों में रत है वो ऐसे लोग मेरे को ही प्राप्त करते हैं कौन जो अनिर्देश उपासक है यानी ज्ञानी ये कहा हुआ भगवान ने आगे जाकर ये कहना है यत्वक सर्वण दर्शन इत्यादि वाक्य में इत्यादि वाक्य के सहारा से विद्वत विषय तो ज्ञानी का विषय दिखाते हैं अब संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठाया निर्धारित करे संन्यास पूर्वक कर्म का त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का निर्धारित करते हैं कर्म नहीं वहां ज्ञानी को कर्म नहीं है ये कहना है ये कहा अनिर्देश इत्यादि सबसे से कहा था भाषण है अनिर्देश अक्षर का को कहा जिसका निर्देश नहीं हो सकता मान बाणी से कथन नहीं हो सकता ऐसे तत्व है वही जो अक्षर कहा जाता है न अक्षर थे अक्षर जिसका नाश नहीं होता विनाश नहीं होता अक्षर है उनके उपासक तो कैसे होते हैं तो अद्वेष्टा सर्वभूतान इत्यादि वाक्यों से कहा हुआ है द्वादश अध्याय में ये इत्यादि अध्याय परिसमाप्ति उपसाधना वहां अद्वेष्टा से लेकर के अंतिम साधन तक कहा था अध्याय समाप्ति तक साधन अध्यष्टास्त्र भूताना मैत्री कर्म ये बच निर्भव निरहंकार सुख दुख सत्वी इत्यादि अध्याय की समाप्ति तक उनके साधन ऐसे साधन वाले होते हैं कौन अनिर्देश्य के जो अव्यक्त तत्व उसको उपासक ऐसे साधन माने ऐसे आचरण है उनके पास अभ्यष्टादि आचरण है द्वेष नहीं करते किसे इत्यादि और क्षेत्राध्याय क्षेत्राध्याय आदि अध्याय त्रयोदश अध्याय से लेकर के पंचदश अध्याय तक क्षेत्राध्याय अध्याय त्रय अध्याय त्रय उक्त ज्ञान साधना तीनों में ज्ञान के साधन बताया है माने द्वादश अध्याय में जो अव्यक्त उपासक के आचरण बताया गया कैसा अद्वेष्टादि आचरण बताया गया त्रयोदश अध्याय चतुर्दश अध्याय पंचदश अध्याय में ज्ञान के साधन बताया ठीक है कैसा कैसा बताया टीका में देखिए उक्त साधना कहा था पूर्वोत्तर साधन वाले ते जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठायाम अधिक्रियन शेष संन्यास पूर्वक कर्म का संन्यास संन्यास माने क्या कर्म का संन्यास कर्म का त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा में अधिकारी होंगे उसी में अधिकृत हो जाते हैं ये शेष लगाने कहा किंच और भी है ज्ञान निष्ठा के साधन भी है उनके पास केवल क्षेत्राध्याय भी कहा होगा आचरण मात्र नहीं अध्यक्षादि आचरण है माने द्वादश अध्याय भी कहा होगा अध्याय समाप्ति तक आचरण बताया कैसे उदासीन बदासीन असक्त इत्यादि जो बोला हुआ है तो सब आचरण है किंतु त्रयोदश अध्याय से पंचदश अध्याय तक ज्ञान की साधन बताया है उनको किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने क्या क्या साधन उनके पास थे जिस साधन का माने आधार पर ज्ञान प्राप्त हुआ उनको माने दो होते हैं आचरण भी चाहिए साधन भी चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल आचरण मात्र से भी नहीं और केवल साधन मात्र से भी नहीं क्यों आचार ही ना न पुनंद वेदा जो आचार आचार से रहित हो उनको वेद भी पवित्र ही कर सकते इत्यादि है किंच त्रयोदशे यानी अमानित्वादी हाँ, जो बीस गुण बताया है त्रयोदश अध्याय अमानितम अधमितम अहिंसा आचार्य उपाश्रम सौम इत्यादि जो बोला हुआ है बीस गुण बताया है और ज्ञान के साधन है ये सब होंगे तो ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं होगा तो कहते <clears throat> त्रयोदशे यानी अमानित्वादि ने अमानित्वादि साधन को कहा हुआ है ज्ञान प्राप्ति के साधन और चतुर्दशे च प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोह च पांडव न दृष्टि न संप्रता न निवृत्ता कांक्षित इत्यादि जो ज्ञान भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति ऐसा होता है ये ज्ञान के साधन ऐसे है जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है प्रवृत्तन एक आता है प्रकाशन से तो प्रवृत्त सतगुण आने पर प्रकाशित होता है सतगुण की इच्छा भी नहीं करता सतगुण बढ़ा रहे इच्छा भी नहीं है चले जाए इच्छा भी नहीं है हम्म। प्रकाशन से तो प्रवृत्ति से तो प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य होता है प्रवृत्ति आया देह इंद्रियादि में और प्रकाश आ गया चलो सतगुण का कार्य आ गया मोह अज्ञान छा गया तीनों स्थिति में चाहे सतगुण का कार्य आए चाहे रजोगुण का हो चाहे तमगुण का हो प्रकाशन से प्रवृत्ति मोह मोह में च पांडव न द्वेष्टि यदि आने पर द्वेष भी नहीं करते क्यों आए मेरे पास और जाने पर इच्छा भी नहीं करते मेरे पास बने रहे उसकी स्थिति ऐसी होती है किसकी ज्ञानी की ये ज्ञान के साधन है द्वेष और आकांक्षा का भाव होना तीनों गुणों का कार्य तो प्रारंभ बस आते रहेंगे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कार्य आते रहेंगे तो आने पर द्वेष भी नहीं जाने पर प्रेम भी नहीं ये आकांक्षा भी नहीं क्यों जाए मेरे पास नहीं जिज्ञासा आकांक्षा में नहीं ऐसे होते हैं एक ज्ञान के साधन बताए चतुर्थ अध्याय में ये कहा इत्यादि ने कहा इत्यादि बहुत सारे गुण कहा हुआ है चतुर्दश में ज्ञान के साधन और पंचदश तो पंद्रह अध्याय में कहा हुआ है ज्ञान के साधन क्या किस साधन के ऊपर वो ज्ञानी बढ़ गए पंचदश अध्याय में है कहा यानी असंगत असंगत्वादी ने उगता नहीं असंग शस्त्र दृढ़ रसित्व संसार का वर्णन किया पहले ऊर्ध बलवत शाखा आदि उसके बाद हाँ, असंग न रूप बस्य तथोपलभ्य दे न तो न जागिर असम प्रतिष्ठा हम्म। इत्यादि करके असंग शस्त्र दृढ़ दृढ़ रसित्व कहा हुआ है असंगता रूपी शस्त्र चाहिए मैं देहादि से भिन्न हूं असंग हूं मेरा किसी के साथ संबंध नहीं यही एक शस्त्र है संसार वृक्षों को काटने के लिए हम्म। ना हम देह न मे देह ऐसे भावना मेरा शरीर नहीं मैं शरीर नहीं ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसको काटने का एक ही साधन है असंगता असंगता रूपी साधन बताई कहते हैं भजते से यानी असंगत्वादि नहीं केवल असंगता मात्र नहीं उसको तथा पदम तत्परिमार्ग तत्म जो असंगता लाने के बाद उस परमात्म तत्व का अनुसरण करना चाहिए यही के नहीं हुआ अभी अपने को असंगता कर दी परमात्मा अहम से भाव नहीं हुआ उसके लिए ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यशमिन कदा न निवर्तन हो यह तमेव हम पुरुषम प्रपत्य यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराण आदि ये भी साधन है उसको अन्वेषण करने का हुआ है ये कहा कई सर्व ही साधन ये सारे साधन जिसके पास है द्वादश अध्याय में कहा हुआ आचरण भी है अद्वष्टा आदि आचरण त्रयोदश अध्याय में कहा हुआ जो अमानात्वादि गुण साधन वो भी है और द्वादश अध्याय में कहा हुआ जो तो त्रयोदश तत्व का अमानित्व चतुर्दश तत्व का प्रवृत्ति आदि ये द्वेष और आकांक्षा नहीं करना प्रवृत्ति प्रकाश आदि में पंचदश असंगत आदि ये सब साधन वाले तई सर्व ही साधन है यह सब साधन से युक्त होगा द्वादश अध्याय के आचरण भी है किसके पास त्रयोदश अध्याय के साधन चतुर्दश अध्याय के साधन पंचदश अध्याय के साधन सब है तय सर्व ही साधन सहिता इसके द्वारा युक्त होते हैं ज्ञानी लोग कहते हैं सहिता भवंती कौन अंग्रेज अक्षर उपासका जो अनिदृश्य है अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले ऐसे साधन वाले होते हैं वो कर्म साधन वाले नहीं होते ये कहते हैं तथोपि ते ज्ञान निष्ठायाम एवं क्रियरण तथो इस साधन से भी ये लोग क्या होंगे ज्ञान निष्ठा पे ही अधिकारी हो जाते हैं किसमें हो जाते हैं कर्मनिष्ठा में अधिकारी नहीं बनेंगे ये साधन वाले जो द्वादश अध्याय त्रयोदश अध्याय पंचदश अध्याय कहा हुआ चतुर्दश अध्याय आदि कहा हुआ साधन वाले ज्ञान स्थापित कार्य होते हैं तो ना हम देह न में देह भाव में होते हैं असंगता रूपी शस्त्र लिए बैठे हैं वो मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं इसलिए कहा क्षेत्र इत्यादि शब्द कहा था इसका क्षेत्राध्याय आदि अध्याय त्रय उक्त ज्ञान का साधना कहा हुआ था भाष्य में ठीक है कहते हैं दो अधिकारी न प्रतिष्ठापय देखो दो प्रकार की निष्ठा है माने ज्ञान के पूर्व स्थिति में कर्मनिष्ठा है और ज्ञान होने पर ज्ञान की स्थिति ज्ञान में बैठे रहना कर्म त्यागना यही है दोनों प्रकार की निष्ठा का प्रतिपादन अधिकारी भेद से प्रतिष्ठापित कर दिया अधिकारी दो प्रकार के हैं हाँ। माने मुख्य अधिकारी गौण अधिकारी है तो अधिकारी भेद अधिकारी के भेद के द्वारा दो निष्ठा का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठापित करके ज्ञान निष्ठाराम जो ज्ञान निष्ठ लोग होंगे ना ज्ञान में बैठे हुए हैं कर्म त्याग करके अनिष्टम इष्टम मिश्रम इति त्रिवतम कर्म फलम न होती जो ज्ञान निष्ठा वाले होंगे जो तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं जो अष्टादश अध्याय में कहा हुआ था वो उनको नहीं होता कर्म का फल अनिष्टम विष्टम इष्टम मिश्रम से कर्म कर्म त्रिविधम फल भगवत्य त्यागी नाम प्रत्यय प्रत्यय कुछ कहा था जो अनिष्ट फल पापादि कर्म का फल होता है और इष्ट कर्म का फल स्वर्ग आदि और मिश्र कर्म का फल मनुष्य लोग यही है मनुष्य आदि बनना पाप पुण्य दोनों मिश्रित का ये तीनों फल जो कर्म को त्यागता नहीं है कर्म करने वाला है उसको होता है फल अत्यागी नाम प्रत्यय भवती जो त्यागी नहीं है कर्म को त्याग नहीं पाता उसको होता है और कर्म को त्यागने के लिए देहात्म बुद्धि त्यागना पड़ेगा ऐसा कर्म नहीं छोड़ सकता जो देहात्म बुद्धि जब तक है कर्म के बिना रह नहीं सकता देहात्म बुद्धि को त्याग नहीं है अज्ञान का नाश करना पड़ेगा अनादि अज्ञान के नाश के बिना देहात्म बुद्धि जाने वाली नहीं है देहात्म बुद्धि गए बिना कर्म हो माने छूटने वाला नहीं है शास्त्र कर्म नहीं करेगा तो स्वाभाविक कर्म करने लग जाएगा कुछ न कुछ करेगा देहात्म बुद्धि काल में नहीं कश्चित क्षण में भी जात तिष्ठत कर्म का अध्याय में एक क्षण भी नहीं रह सकता व्यक्ति कुछ कर्म के बिना जो देहात्म बुद्धि वाला होगा एक क्षण भी नहीं रह सकता कुछ न कुछ करता रहेगा चाहे शारीरिक कर्म करे चाहे वाचिक करे चाहे मानसिक करे कुछ ना कुछ कर्म करता रहेगा स्थिति है तो देहात्म बुद्धि के कारण होते हैं कर्म तो देहात्म बुद्धि को नाश करने के लिए क्या चाहिए आत्मज्ञान चाहिए उसका कारण नाश करना पड़ेगा देहात्म बुद्धि का कारण है अज्ञान अनादिकालीन अज्ञान उसको नाश के लिए आत्मज्ञान चाहिए तो कहते हैं <clears throat> ज्ञान निष्ठा तो अधिकारी वेदना निष्ठाद्वयम जो दो पर कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा अधिकारी वेद से भिन्न भिन्न अलग अलग कहा हुआ है प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठापित करके प्रतिष्ठित करके ज्ञान निष्ठा राम जो ज्ञान निष्ठा वाले लोग हैं ज्ञान में स्थिति है जिन लोगों की अनिष्टम इष्टम मिश्रम से तीन प्रकार के जो कर्म है अनिष्टम इष्टम मिश्रम इति त्रिविधम कर्म फलम जो तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं न भवती ज्ञान निष्ठाओं को नहीं होती ज्ञान निष्ठा न भवती ज्ञान निष्ठा वाले के कर्म का फल नहीं होते हैं किंतु मुक्ति उनकी तो मुक्ति होगी कर्मनिष्ठा नाम तो जो कर्मनिष्ठ लोग है कर्म कर रहे हैं देहादि में आत्मबुद्धि है कर्म कर रहे हैं उनका तो कर्म कर्मफलम तीन प्रकार के कर्म का ही फल होगा न मुक्ति उनको मुक्ति नहीं हो सकती अभी हम्म, कर्मनिष्ठा को कर्म में निष्ठा ही जिनकी उनको नहीं हो सकती थी शास्त्रार्थ विभागम अभिव्रतम है तो गीता शास्त्र का जो तात्पर्य है उसका जो जो इष्ट है कहना इष्ट है उसको उपसंगार करते हम यह कहा अधिष्ठान आदि कहा था जो कोई भी कर्म होता है पांच व्यक्ति को लेकर के कर्म होता है अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवम शैवात्र पंचम इसी अष्टादश अध्याय में कहा है कोई भी कर्म पाप हो पुण्य हो कोई भी कर्म करता हो तो पांच चाहिए कर्म करेंगे अधिष्ठान शरीर शरीर में कर्म होता है अधिष्ठान शरीर है अधिष्ठान तथा करता करने वाला व्यक्ति जीवात्मा होगा करता कर्म से प्रथम होना भिन्न भिन्न इंद्रियों के प्रयोग होना किस कर्म में कौन से किस इंद्र का प्रयोग करना है सभी कर्म में सभी इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता और विविधा से प्रत्येक इंद्रियों के भिन्न भिन्न व्यापार इंद्रियों के व्यापार भी अलग अलग है देखने का अलग है सुनने का व्यापार अलग इत्यादि चक्षु का व्यापार अलग है शब्द माने स्त्रोत्र का व्यापार अलग है भिन्न भिन्न व्यापार दैवम चैवात्र पंचम कहा और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता जब तक उपकार नहीं करेंगे इंद्रिया काम नहीं कर सकती सूर्य आदि जो उपकार देवता होते हैं वो भी कर्म के कारण है हेतु होते हैं सब पांच हेतु होते हैं तो उस स्थिति में केवल अपने आत्मा को ही कर्ता मानता हो जो हाँ, वो नश्य दुर्ग का जीवन मुक्ति क्या निष्ठा जीवन मुक्ति काल में ज्ञान में ही हो व्यक्ति किंतु कैवल्य मुक्ति नहीं हुई शरीर है अभी तो, तो जीवन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था की चर्चा कैवल्य अभी ज्ञान में निष्ठा है तो जीवन मुक्ति में है वो उस अवस्था में है आगे तो कैवल्य होना है तो जीवन मुक्ति है वो जीवन मुक्ति में शरीर अभी छूटा नहीं है प्रारब्ध है किंतु शरीर से अलग होकर बैठा हुआ अपने अलग मान रहा है मान्यता अलग है शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है स्थिति ये कहा था हाँ, आगे बोलते हैं यदुक्तम अविद्या काम विजम सर्व करो तन्न कर्म कर्मणो अविद्या प्रकृत अनुपत्य इति आक्षति मीमांसक शंका कर रहे हैं पूर्व पर कहा था चार मैंने चौबीस पृष्ठ जो कहा था दो सौ छह सौ चौबीस में कहा का अविद्या काम बीजम सर्व कर्म अविद्या और काम अविद्या अविद्या जन इच्छा तत्त कर्म करने की इच्छा तो ये जो बीज होते हैं ये सारे कर्म का बीज ये दो होते हैं अविद्या और काम मानी इच्छा अज्ञान है और तत्जन इच्छा विषयों की इच्छा यही दो बीज बन जाते हैं कर्मों का मूल कारण यही है कहा था सर्व तन्ना मीमांसा ये ठीक नहीं है क्यों तो, शास्त्र अवगत से कर्म शास्त्र से जाना हुआ कर्म है स्वाभाविक कर्म तो चलो काम अविद्या काम बीज अविद्या काम बीज वाला हो स्वाभाविक तो कर्म बिना सिखाए होने वाले कर्म किंतु जो शास्त्रीय कर्म है उसको कैसे अविद्या काम बीज कहेंगे अविद्या जन्य कैसे बोलेंगे ये पूर्वादि का कहना है शास्त्रावगत शास्त्र अवगत शास्त्रावगत शास्त्र के द्वारा जाना जाता है जो कर्म स्वर्गाम आदि जो वाक्य शास्त्र से जाना जाता है स्वर्ग जान व्या करे इत्यादि शास्त्रावगत कर्म जो शास्त्र से जाना हुआ कर्म होता है अवगत कर्म अविद्यापूर्वक पूर्वक तो अवगत उसको अज्ञान पूर्वक कहना ठीक नहीं है उसको तो शास्त्र से जाना हुआ है वो कर्म को अविद्यापूर्वक कैसे कहेंगे माने अविद्या कारण है उस कर्म का कारण अविद्या कैसे मानेंगे उसको ये शंका है मीमांस की ओर से तो यही शंका यही है अविद्यापूर्वक सर्वस्व कर्म असिद्धम सारे कर्म को अविद्यापूर्वक कहना ये ठीक नहीं है असिद्ध है कुछ कर्म तो अविद्यापूर्वक है जो स्वाभाविक कर्म है कौन है हाँ, तो शास्त्रीय कर्म जो होंगे कैसे अविद्यापूर्वक होगा शास्त्र बोल रहा है उसको तो करने के लिए तो सिद्धांत कहते न करके बोलेंगे टीका कहते हैं दृष्टांत समाधत है सिद्धांत दृष्टांत के द्वारा मानी उसे समाधान करते हैं उत्तर देते हैं दृष्टांत के साथ न क्या दृष्टांत ब्रह्म हत्या अधिपत कह दिया जैसे ब्रह्म हत्या शास्त्र से अवगत होता है नहीं करना चाहिए निषेध में है किस वाक्य में है शास्त्र में दो ही है विहित और प्रतिषेध दो प्रकार के वाक्य आते हैं ये प्रतिषेध वाक्य आता है ब्राह्मणों रहंतव्य ऐसा शब्द आता है फिर भी ब्राह्मण का हत्या कर जाता है व्यक्ति किस कारण से उसमें क्रोध है द्वेष है द्वेष क्यों हुआ अज्ञान के कारण उसका जननी अज्ञान है अविद्या है तो जैसे ब्रह्म इत्यादि शास्त्र से जाना जाता वाक्य होता है प्रदेश शास्त्र का जन्य वाक्य है फिर वो कार्य हो रहा है तो मैंने इससे जानना पड़ेगा जैसे वो होता है तो माने तो माने शास्त्रीय कर्म भी सारे के सारे अविद्यापूर्व के हैं दृष्टांत यही है ब्रह्मत्यादिवत बोल दिया इसी की व्याख्या करते हैं यद्यपि शास्त्र हम नित्यम कर्म नित्य कर्म अविधोत्रादि कर्म शास्त्र से जाना हुआ है ठीक है यद्यपि है वो तथापि फिर भी अविद्यापत भगवती अज्ञानी को ही होगा ये भी किसको होगा अज्ञान वाला जो होगा अज्ञानी होगा उसी को होगा जैसे ब्रह्म हत्यादि ब्रह्म हत्या करने पर उसको नरक यातना होनी है स्वयं आगे ऐसे फल मिल रहा है जो तो ब्रह्म हत्या कारक को फिर भी कर जाता है किसके कारण समझता नहीं अज्ञानी है वो अज्ञान के बस होकर के काम करता है तो सारे कर, सारे के सारे कर्म अज्ञान काल में होता है ये सिद्ध किया है तथा अभिमतान प्रतिज्ञा विभजते है सिद्धांत को कहना अभिपत क्या है प्रतिज्ञा क्या है सिद्धांत के सारे के सारे कर्म अविद्या काल में होते हैं ज्ञान काल में नहीं होते कोई कर्म नहीं होते ज्ञान काल में इसको कहा यद्यपि कर कहा यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म नित्य कर्म शास्त्रीय कर्म है शुभ कर्म है अशुभ कर्म नहीं है विहित कर्म है शास्त्र अवगत है जाना जाता है अविरोत्र और आदि वाक्य से जाना जाता है तथा भी फिर अविद्यावत भवती जो नित्य नित्य कर्म भी अविद्या वालों का होता है ज्ञान ही वही होता है उन्हीं से संपन्न होता है कहा ठीक है उत्तम दृष्टांत भी दृष्टांत दिया गया था ब्रह्मत्यादिवत सारे के सार्व सारे कर्म अज्ञान पूर्वक ही होता है इसमें दृष्टांत क्या है ब्रह्मत्या को दृष्टांत दिया है इसी को व्याख्या करते हैं यथा यथा प्रतिषेध शास्त्र अवगतम भी ब्रह्मत्यादि लक्षण प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा जाना गया ब्राह्मण और अंतव्य वाक्य आया ऐसे वाक्य है तो प्रतिषेध शास्त्र में आया हुआ निषेध शास्त्र में है उसके द्वारा जाना हुआ जो ब्रह्मत्यादि स्वरूप कार्य होता है कर्म ऐसा जो कर्म है ब्रह्मत्यादि स्वरूप जो कर्म है अनर्थ कारण वो कर्ता को अनर्थ देने वाला होता है कर्म कैसे होता है नरक तक भोगना पड़ेगा उसको अभी आवेश में आकर के ब्राह्मण को मार तो दिया किंतु परिणाम अच्छा नहीं होगा नरक यातना होगी ये कह रहे हैं ब्रह्म इत्यादि लक्षण कर्म अनर्थक कारण भी अनर्थक का कारण है जिस प्रकार है होते हुए भी अविद्या काम आदि दोष होता जो अज्ञान अज्ञान जाने इच्छा मारने की इच्छा है अज्ञान से द्वेष आया हुआ मारने की इच्छा है ऐसे व्यक्ति का भवती वो ब्रह्म इत्यादि जैसा कार्य भी हो जाता है देखा है यद्यपि शास्त्र से अवगत है वो भी ब्राह्मणों रहन इस वाक्य से अवगत है अन्यथा यदि वो कार्य यदि न होता प्रवृत्ति अनुभत्य ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए अविद्या यदि नहीं होती उसके पास अज्ञान न होता तो प्रवृत्ति नहीं होती उस कार्य में स्वयं का आगे नरक यातना भोगना है वो कार्य में प्रवृत्ति हो रही उसकी तथा उसी प्रकार नित्य नैवित काम पाणी बाकी जो विहित कर्म है नित्य कर्म है नैवित्तिक कर्म है काम्य कर्म है ये सबके सब कर्म भी अविद्यावान को ही होगा अज्ञानी को ही होगा ज्ञानी में नहीं हो सकता था हाँ जी पूर्व पक्ष बोलता मीमांसा कहता है महाराज शास्त्रीय कर्म जो होता है ना पारलौकिक कर्म परलोक में फल मिलने वाला कर्म वो देह से अपने को अलग मानता है जो करता देह से पृथक अलग पृथक माने बिना वो कर्म कर ही नहीं सकता देह यहीं रहने वाला है परलोक में जाने वाला नहीं है शरीर तो वो जो कर्म करने वाला जो व्यक्ति होगा करता होगा अपने को अलग मानता देह से तो उसको ऐसे अज्ञानी माने ज्ञान जन्य कर्म कैसे मानेंगे ये पूर्वादि का कहना है व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञात है आत्मा को अतिरिक्त न जानने पर प्रवृत्ति नित्यादि कर्म में प्रवृत्ति इति कर्म से अनुपन्ना आपने जो कहा था आत्मा को अतिरिक्त न जानने के कारण से नित्य कर्मादि में प्रवृत्ति होती है कहा था आपने अज्ञान काल में है कहा था वो ठीक नहीं है मीमांसा कहते हैं व्यतिरिक्त आत्मा नहीं अज्ञात है आपका यही कथन था सिद्धांत का आत्मा को शरीर से पृथक न जानने पर अतिरिक्त न जानने पर प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती कहा नित्यादि कर्मों से प्रवृत्ति कहा अपने नित्यादि कर्मों में प्रवृत्ति होती कहा यह है ठीक नहीं है पारलौकिक कर्म करने वाला जो होगा आत्मा को पृथक जानता है तो आत्मा को पृथक न जानने वाले जो प्रवृत्ति होती है ना तो कहा वो नित्यादि कर्म होता है कहा था मैंने अज्ञान से आत्मा को न जानने पर कहा था आत्मा को जान रहा हो व्यक्ति तो उसके कर्म को अज्ञान जन्य नहीं कहना चाहिए तो शास्त्रीय कर्म है पारलौकिक कर्म में ऐसा देखा जाता है आत्मा को देहादि से पृथक समझता है तभी तो कर्म कर सकता है फल आत्मा को भोगना है वहां शरीर नहीं रहने वाला है यदि शरीर को ही आत्मा मानता तो वो कर्म नहीं कर सकता शरीर नहीं भस्मीभूत होने वाला है तो तो स्वर्ग नहीं जा सकता तो आपने जो कहा था पूर्वादि बोल रहा है आपने कहा था आत्मा को शरीर आदि से पृथक न जानने और ज्ञात होने पर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कहा नित्य कर्मादि में कहा था वो ठीक नहीं है नित्य कर्मादि में प्रवृत्ति हो रही उसको आत्मा को पृथक जान रहा हो ये कहना चाहते हैं ये चेत ऐसा पूर्वादि बोलते सिद्धांत बोलते ना अरे बाबा आत्मा व्यापक है उसमें क्रिया कर्म होना संभव नहीं है विभू है विभू परिमाण माना हुआ है और कर्म होता है चलनात्मक होता है क्रियात्मक होता है कर्म तो आत्मा में हुई नहीं सकते कर्म आत्मा में कर्म होना संभव नहीं आत्मा कश्य कर्म चली कंपनी धातु है ना कंपायमान है कर्म मैंने हो अनात्म कर्तृकश्य जो अनात्मा जिसका करता है शरीर जिसका करता है कर्म का कर्ता कौन है अनात्मा है शरीर में क्रिया हो रही है आत्मा में तो क्रिया हो नहीं सकती है कर्म चलनात्मक होता है क्रिया रूप है वो और क्रिया कहां होती है शरीर में है चलनात्मक से कर्मणो अनात्म कर्तिक अनात्मा जिसका कर्ता है जिस कर्म का कर्ता अनात्मा है शरीर है वो कर्ता अहम करो भी प्रवृत्ति सार वो व्यक्ति बोलता है कि आत्मा बोल क्या मैं करता हूं बोलता है क्या बोलता है ज्ञान है कि अज्ञान है अपने को पृथक समझ रहा है कि भिन्न समझ रहा है अभिन्न समझ रहा है नहीं तो शरीर के धोने वाले कर्म को अपना कर्म क्यों अहम करो भी क्यों बोलता मैं करता हूं बोलता पृथक समझ ही नहीं पा रहा है आत्मा को अलग समझता तो कर्म नहीं कर सकता ये सिद्धांत क्या है सड़तात्मक से कर्म क्रियात्मक है कर्म कर्म अनात्म कर्तृ उसी का विशेषण अनात्मा जिसका करता है शरीर जिसका करता है कर्म का करता उसमें अहम करो भी उस काल में बोल रहा है वो स्वर्ग जाने के व्यक्ति जो बोलता है जाने वाला कर्म करने वाला बोलता है अहम कर मैं करता हूं यदि प्रवृत्ति दर्शनार्थ उस कर्म में प्रवृत्ति हो रही है ऐसा देखा गया है शरीर पर कर्म हो रहा है मैं करता हूं करके प्रवृत्ति होती देखी गई है तो स्थिति में अज्ञान ही है सारा कर्म अज्ञान काल में है ये सिद्ध होता है कहा पूर्व पक्ष बोलता है महाराज देहादि शंका दे हम प्रत्यो कौन हाँ माने मिथ्या ज्ञान के कारण कर्म होता है सिद्धांत सिद्ध किया पूर्व वो गौण है शरीर में आत्मबुद्धि गौण है माने मिथ्या नहीं है अज्ञान जन्य नहीं है गौण में ज्ञान पूर्वक होता है जानकारी पूर्वक होता है जैसे सिंगो मानव का को कोई शब्द प्रयोग करता है किसी को ये बालक तो शेर है तो प्रयोगकर्ता को पता है कि सिंह नहीं ये भिन्न है कुछ सादृश्य लेकर के कहा गया क्रूरत तो क्रूर है जैसे सिंह क्रूर होता है वैसे लेकर के तो भेद बुद्धि होती है वहां या अभेद बुद्धि है शरीर के साथ तो इसको गौण कैसे मानेंगे वो जैसा नहीं गौण प्रयोग जहां होता है वहां देखा जाता है भेद बुद्धि प्रयोग और जो शब्द सुनने वाला सिंहो माणव वगैरह सुनने वाला जो बालक होगा वो भी जानता है मैं सिंह नहीं हूं दोनों में भेद बुद्धि सिद्ध होता वहां यह अवैध बुद्धि है कहा शरीर और आत्मा में शरीर में किए जाने वाले कर्म को मैं करता हूं करके मान्यता आ रही है अवैध बुद्धि है ये मिथ्या है मिथ्या विज्ञान पूर्वक है मानी झूठा ज्ञान पूर्वक है अज्ञान पूर्वक कर्म होता है तो कर्म करने वाले अज्ञानी होते हैं तब तो यही कहना चाहते हैं देहादि संघाते अहम प्रत्यय कौन हो यह पूर्वादि है मीमांसा करते देहादि समुदाय में चाहे इंद्रियों में हो चाहे देह में हो प्राण में हो मन में हो बुद्धि में हो पूरे समुदाय में जो अहम बुद्धि होती है ना वो अहम प्रतिबंध अहम बुद्धि गौण हाँ, ये गौण है न मिथ्या मिथ्या नहीं है अज्ञान जन्य नहीं है गौण है यदि चेत ऐसा कहे मीमांसा तो सिद्धांत बोलते ना क्यों तत्काल ये भी गौण तो करते फिर वो जो देहादि के जो कर्म होगा कर्म देहादि से हो रहे हैं उनका जो कार्य होगा वो भी गौण माना जा मानना पड़ेगा क्या होगा फिर मुख्य आत्मा को फल मिलेगा नहीं हाँ। जो बालक सिंह मानव को प्रयोग कर दिया बालक जो काम करता है उसका फल सिंह को मिलेगा क्या नहीं मिलता मुख्य को नहीं मिलेगा और उसके कार्य जो शरीर आदि का जो कार्य होगा उसमें गौण तो होगा स्थिति में किंतु मुख्य मान के चला मेरा कर्म है मानता क्या मानता है मैं करता हूं ये मानता गौण नहीं है ये कहना चाहते हैं पूर्वादि बोलता महाराज गौण ही है ये गौण है शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है गौण है मिथ्या नहीं है अज्ञान जन्य नहीं है गौण में ज्ञान पूर्वक होता है गौण प्रयोग होता है ज्ञान बुझकर किया जाता है आत्मीय देहादि संघाते आत्मा संबंधी को आत्मीय कहा आत्मा का संबंधी है देहादि आत्मा यह रहता है आत्मीय देहादि संघात है देहादि समुदाय इसमें अहम प्रत्यय जो अहम बुद्धि हो रही है ना देहादि संघात में आत्मीय है आत्मा नहीं आत्मीय आत्मा संबंधी है तो गौण यही गौणी है ये कैसा यथा आत्मीय पुत्र है जैसे आत्मीय पुत्र है पुत्र अपना होता है स्वयं पुत्र नहीं होता पिता पिता का पुत्र आत्मीय होता है मान पिता संबंधी पुत्र है वो आत्मा वही पुत्र नामाशेष है कौशित के उपनिषद कहा है हे पुत्र आत्मा वही ऐसी तुम आत्मा वैसे तुम मेरे स्वरूप ही हो आत्मा ही हो ऐसा कहा जाता है क्यों ऐसी स्थिति में कहा गया एक संप्रतिपत्ति का होता है अंतिम अवस्था में पिता पुत्र को सौंपता है क्या सौंपता है जीवन भर वेद पढ़ता था वो वेद को सौंपता है कर्म करते वेद जन्य कर्म करते शास्त्र जन्य कर्म करता वो सौंपता है उसका फल भी सौंपता है स्वर्ग आदि फल भी अब मैं तो परलोक जा रहा हूं माने तुम तम ब्रह्म तम यज्ञ तम लोका ऐसा बोलता है ब्रह्म मैंने वेद है वहां तुम ही वेद हो मैं जो वेद पढ़ता था आजकल ये परंपरा नाश नहीं होनी चाहिए आज के बाद वेद तुम्हारा अधिकार में रहेगा पुत्र को सौंपता है तुम यज्ञ वेदजन्य यज्ञ मैं करता था आजकल आप तक तो, अब मेरे बस की नहीं है तुम कर तुमने करना है ये काम तुम लोग लोग मेरे फल तो यज्ञ जन्य जो फल होगा स्वर्गाज फल तुमने भोगना है आगे ऐसा करके संप्रति पर संप्रदान कर्म को संप्रति कहा संप्रदान करता है अपना जो कर्म था पुत्र को सौंपता है तो वह उस स्थिति में बोलता है आत्मा वही पुत्र का आवासी करके बोलता है हे पुत्र तुम तो मेरे आत्मा ही हो स्वरूप ही हो ऐसा बोलता है तो जैसे गौण प्रयोग है मुख्य नहीं है गौण है क्यों पुत्र को मेरे स्वरूप करके बोल रहा पिता जैसे गौण है वेद में कहा हुआ है कौशित के उपनिषद में है और लोके भी लोक में भी ऐसा कहते हैं जो ज्यादा गाय दूध देती हो ना जो गाय दूध देती मम प्राण एव अयम गऊ हाँ एक, एक गाय जो मेरा अच्छा बैल है अयम शब्द पर है जो तो ज्यादा काम करता है जो बैल गाड़ी भी खींचता हो हल भी जोतता हो ऐसा बैल बैल मम प्राण एव अयम गौ ये गौ तो मेरा प्राण है गौ माने बैल यहाँ अयम वो शब्द के स्त्री के समान चल रहा है यहाँ अयम शब्द है यदि गाय होती तो यम बोल रहा था श्लोक में बोला जाता है मम प्राण एवं अयम गौ ये जो गौ मैंने बैल अयम वृषभ ये वृषभ जो है मेरे प्राण है इसके बिना मेरा कोई काम नहीं चलने वाला सब काम करता है तो अपने जो संपत्ति है बैल उसमें मैं अपना प्राण बोल रहा है ये गौण है बैल को जो मेरा प्राण बोल रहा गौण प्रयोग है इसी प्रकार यहां भी शरीर आदि में जो अहम प्रत्यय होना क्या है ये गौण है ये पूर्वादि बोल मैं से बोल रहा है मिथ्या नहीं है शरीर में आत्मबुद्धि मिथ्या नहीं है अज्ञान जन्य नहीं है गौण है इसके लिए दृष्टांत दिया शास्त्रीय दृष्टांत और लौकिक दृष्टांत दो दृष्टांत दिया पूर्व में मांसा पर ये कहना है ठीक है अविद्यादि मतो ब्रह्मत्यादि कर्म इत्यत्र हेतु महा अविद्यादि वाला भी ब्रह्मत्यादि कर्म होता है अज्ञान अज्ञानी जो होगा वो ब्रह्मत्यादि करेगा तो अज्ञान काल में है सब काम कर्म अन्यथा इत्यादि भाषण में कहा अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्य यदि अज्ञान न होता उसकी प्रवृत्ति न होती किसमें प्रवृत्ति अधिकारियों में अविद्यापूर्वक के सारे कर्म दाष्टान्तिकम वृणाती दृष्टांत है उसी प्रकार नित्यादि कर्म जितने भी है वो भी अज्ञानी का ही है ये कहना है शास्त्रीय कर्म भी सबके सब अज्ञानी ये सिद्धांत यही है तथा इत्यादि कहा था तथा नित्य नैवित्य काम यानी अभी जो नित्य कर्म हो नैवित्य कर्म हो काम्य कर्म जितने कर्म हो मैंने अज्ञान काल में है देहादि में आत्मबुद्धि करके ही है ये कहा ठीक है मैं कहा तानी अभी अविद्या बोध तानी मैंने जो नित्यादि कर्म जो बताया हुआ है नित्य नैवित्य काम्य वो भी अविद्यादि वाला का ही भवंती ये सिद्धांत ने कहा यदि अविद्यादि पूर्वकत्व तेषा इसलिए अविद्यादि पूर्वक उन कर्म भी अविद्यापूर्वक ही है अज्ञान पूर्वक ही है कर्म कौन नित्य नैमित्तिक काम्य भी इस स्वीकार करना चाहिए सिद्धांत का तात्पर्य यही हुआ पूर्वाज बोलता महाराज पारलौकिक जो कर्म होते हैं कैसे अविद्या प्रयोग बोलेंगे तो कर्म करने वाला व्यक्ति अपने को शरीर से पृथक समझता है मैं यही शरीर हूं ऐसा समझेगा तो कर्म नहीं कर सकता क्यों शरीर तो यही भस्म होने वाला है तो उसको पता हो जाएगा कि यही भस्म होने वाला कर्म क्यों पारलौकिक कर्म क्या फल मिलेगा उसको शरीर से अपने को पृथक समझता है पारलौकिक कर्म करने वाला व्यक्ति तो वो अविद्या वाला नहीं है ये पूर्वाजी बोलता है व्यतिरिक्त इत्यास हो रही व्यतिरिक्त आत्मा नहीं आते हैं जब तक अपने को व्यतिरिक्त नहीं समझता आत्मा शरीर से पृथक नहीं न जाने पर प्रवृत्ति नित्यादि कर्म से होना फिर नित्यादि कर्म में नित्यादि कर्म पारलोक भी फल वाले हैं नित्य कर्म करने से अभी फल मिलेगा नहीं पारलोक में स्वर्ग मिलना है तो ये नित्य है नैमित्य का जो भी है पारलोक कर्म हमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए आत्मा को पृथक न जानने पर आत्मा को पृथक समझता है देहादि से तो पृथक समझ के कर्म करता है इसका मतलब वो अज्ञानी नहीं है विद्या नहीं है देहा में आत्मबुद्धि पूर्वाद ने कहा न सिद्धांत बोले न करके बोलेंगे टीका में है सत्य भी व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है यद्यपि तो पारलौकिक कर्म वाले करने वाले के पास आत्मज्ञान होता है किस रूप से शरीर से पृथक रूप से मैं ये शरीर ही हूं यह बुद्धि करने पर कर्म नहीं हो सकता तो कर्म व्यतिरिक्त आत्मज्ञान तो है पृथक आत्मज्ञान होने पर भी यानी देहादि अतिरिक्त आत्मज्ञान बिना प्रवृत्ति सत्य भी व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है पारमार्थिक आत्मज्ञान भाव कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से आत्मज्ञान हो रहा है उसको किस रूप से वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं उसको मैं नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूं यह ज्ञान नहीं है उसको कर्म करते समय में ज्ञान का अभाव है अभी भी पारलौकिक कर्म करते समय में परलोक संबंधी कर्म करने वाले को अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं मैं हाँ, ये कर्म कर रहा हूं आगे फल भोगूंगा ये बुद्धि होती उनकी एक हाँ, सत्य भी व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है यद्यपि शरीर आदि से पृथक आत्मज्ञान तो है उसको किंतु जैसे वेदांत के द्वारा उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा है उसका ज्ञान नहीं है उसको पारमार्थिक आत्मज्ञान अभावाद कहते हैं जो पारमार्थिक आत्मा है जो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है उसका ज्ञान नहीं है उसको इसलिए मिथ्या ज्ञान आदि वन इत्यादि कर्मसु प्रवृत्ति है मिथ्या ज्ञान ही उसको भी वास्तविक आत्मा का ज्ञान तो है ना वहां औपाधिक आत्मा का ज्ञान है कौशे आत्मा तो मिथ्या ज्ञान ही हो यही है नित्यादि से प्रवृत्ति है अविद्यापूर्वकत्वम अविद्यापूर्वक ही कर्म अज्ञान पूर्वक ही है तेसा माने नित्यादि नाम जो नित्य नैविधिक काम्य कर्म है वो भी अविद्यापूर्वक ही होते हैं जो वास्तविक आत्मा का ज्ञान तो पारमार्थिक आत्मा ज्ञान तो है ही ना उसको औपाधिक आत्मा का ज्ञान है तेसा अप्रतिहतम उसका विनाश नहीं हुआ वही रहा कौन रहा अविद्यापूर्वक कर्म है इत्यादि कर्म यदि परिहरते सिद्धांत खंडन करते हैं न कर कहा था न एक कहा था चलनात्मक से कर्म लो अनात्मकर्तिक माने कर्म चलायमान है क्रिया स्वरूप है कर्म और अनात्मा जिसका करता है शरीर आदि जिसका करता है कर्म करने वाले कौन है शरीर आदि है वही कर्म होता है अनात्मक से कर्म हो चलात्मक से कर्म हो अनात्मक अहम करो भी प्रवृत्ति मैं करता हूं ऐसे मान्यता आ जाती है कहा अज्ञानी को अज्ञानी के पास मान्यता मैं करता हूं इस कर्म को मान रहा है दूसरे का कर्म अपने में आरोप करता है तो अज्ञान पूर्वक कर्म होता है सारे कर्म एक आना है ठीक है कर्मणा चलात्मक कर्म जो है क्रिया स्वरूप है सड़नात्मक है तो, न आत्मकर्तृत्व में आत्मकर्ता वाला नहीं है क्रिया ये कर्म तस्य तो आत्मा तो निष्क्रिय है क्रिया रहित है कोई क्रिया व्यापक है विभू में कोई क्रिया नहीं सकती निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्बद्धम निरंजनम आत्मक स्वरूप का है अवयव रहित है क्रिया रहित है शांत है इत्यादि निर्दुष्ट है इत्यादि तस्य निष्क्रियत्व आत्मा निष्क्रिय है न कर्म होना संभव क्रिया होती है आत्मा में देहादि संघात से तो जो देहादि संघात है शरीर में कर्म होता है इंद्रियों में है मन है प्राण है बुद्धि है ये सब देहादि संगात आदि समुदाय है इनमें तो सक्रियत्वाद ये सक्रिय के सहित होते हैं क्या होते हैं क्रियाशील होते हैं सक्रियत्वाद देहादि संघात जो सक्रियत्व होने से तत्कर्तृत्व कर्म देहादि संगात में होने वाले जो कर्म है कर्ता यही होते हैं कर्म के कर्ता कर्म युक्तम कर्म इसी का कहना युक्ति संगत है देहादि का ही है तथापि फिर भी संघाते अहम अभिमान द्वारा जो आत्मा क्या करता है ये देहादी समुदाय में अहम ऐसा अभिमान करके मैं हूं मैं यही हूं ऐसे अभिमान करके इस माध्यम से अभिमान के माध्यम से अहम करो वित्ती आत्मनो वित्यादि पूर्विका कर्मणी मैं करता हूं करके आत्मा में मिथ्या ज्ञान पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति दृष्टा कर्म में प्रवृत्ति आत्मा की देखी गई किसमें अज्ञान पूर्वक देहादि में होने वाले कर्म में क्यों हुआ देहादि के साथ में एकता कर गया हुआ ज्ञान के कारण मैं शरीर हूं ये बुद्धि में आ गया मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि में आने के कारण उस शरीर आदि मनुष्य आदि शरीर आदि के होने वाले कर्म को अपना कर्म मान गया कर्तृत्व तो अपने बुलाता है प्रवृत्ति कर्म प्रवृत्ति देखी गई आत्मा की ऐसा पारमार्थिक आत्मा ने औपाधिक आत्मा की प्रवृत्ति देखी गई कहा तेन अविद्यापूर्वक पूर्वकत्व तस्य उत्तम इसलिए जो कर्म होता है वो अविद्यापूर्वक ही होता है ये सिद्ध हो गया कहा यदुक्तम देहादि संघाते अहम अभिमान से मिथ्या ज्ञान तम तद सिद्धांत ने बता दिया देहादि में अभिमान होने के कारण से वो देहादि में अभिमान क्या मिथ्या ज्ञान है कहा था क्या ज्ञान झूठा ज्ञान होने से कर्म हो रहा है उसको कर्म की मान्यता आ गई उसकी यदुक्तम सिद्धांत ने जो कहा देहादि संघात है देहादि समुदाय में अहम अभिमान से जो अहम अभिमान है ना मिथ्या ज्ञान तुम जो अभिमान होता अहम अहम यही मिथ्या ज्ञान है शरीर आदि में अहम बुद्धि हो रही है मैं मैं बुद्धि यही मिथ्या ज्ञान है तद आक्षिपति पूर्व मीमांस उसको कटाक्ष करता है आक्षेप कर देना देहादि संघात में जो आत्मबुद्धि गौण है मिथ्या ज्ञान नहीं है तो गौण गौण है एक कहना देहादि इत्यादि कहा पूर्वादि कहा देहादि संघात है अहम प्रत्यय हो जो देहादि समुदाय में अहम बुद्धि जो हो रही है ना वो गौण हाँ गौण है न मिथ्या मिथ्या नहीं है पूर्वादि ये बोल रहे हैं सिद्धांत बोले ना बोलेंगे न तत्काल से गौणत्व प्रत्यय इत्यादि है ठीक है अहम देव गौणत्व यदि अहम बुद्धि जो देहादि में अहम बुद्धि गौण हो तो सिद्धांत बोल गौणत्व तत्पूर्वक कर्म हो गए तो अहम बुद्धिपूर्वक देह में जो कर्म हो रहा है किस बुद्धिपूर्वक अहम बुद्धिपूर्वक जो कर्म होता है देह में वो भी गौणत्व फिर कर्म भी गौण मानने पड़ेगा क्या होगा तो आत्मा नो अनर्थ अभाव तो गौण कर्म से आत्मा को अनर्थ तो होगा नहीं जैसे सिंह माणव को बोल दिया ये बच्चा तो शेर है बोल दिया तो वो बच्चा में जो अनर्थ होगा वो अनर्थ सिंह को होगा क्या सिंह का जो जो बालक में जो कर्म घटेगा वो कर्म अनर्थ कारण सिंह के लिए अनर्थ नहीं हो सकता मुख्य को नहीं हो सकता तो यदि देह में आत्मबुद्धि को गौण माना जाए तो उसमें होने वाले जो कर्म है वो भी गौण माना जाएगा फिर आत्मा के अनर्थ होगी ना संसार की प्राप्ति होगी ना आत्मा को ये सिद्धांत बोल रहे अहम देव गौण तत्पूर्व कर्म तत्पूर्व कर्मोक्षु अभी मैंने अहम बुद्धिपूर्वक जो कर्म हो रहा है शरीर आदि अहम बुद्धि कर्म क्योंकि गौण तो आपत्ति है गौण की आपत्ति है गौणता तो माननी पड़ेगी उस गौण मानना होगा आत्मा नो गौण के द्वारा आत्मा की कोई अनर्थ तो होना नहीं है संसार की प्राप्ति होनी नहीं तन निवृत्तम हेतु अन्वेषण नशा फिर उस अनर्थ की निवृत्ति के लिए कारण ढूंढना अनर्थक हो जाएगा संसार को हटाने के लिए जो कारण ढूंढना व्यर्थ हो जाएगा आत्मज्ञान आदि जाप तो दूसरा ही सिद्धांत दूषित करते हैं नहीं वो मिथ्या ही है देहा में आत्मबुद्धि गौण नहीं मिथ्या है यदि गौण मानेंगे तो देहा में होने वाले कर्म भी गौण ही माना जाएगा गौण मानने पर वो आत्मा को कोई अनिष्ट होने वाली नहीं गौण से जैसे सिंह माड़ा को बोल दिया था ये शेर है बच्चा तो बच्चे में जो कुछ भी होगा तो सिंह को कुछ होने वाला नहीं है अनर्थ नहीं होने वाला है ठीक इस प्रकार हो जाएगा फिर अनर्थ नहीं है आत्मा को तो फिर उसकी निवृत्ति के लिए क्यों प्रयत्न कर रहा है प्रयत्न करता है इसका मतलब वो मिथ्या है मिथ्या ज्ञान है वो झूठा ज्ञान हो रहा है शरीर में आत्मबुद्धि वो गौण नहीं है ये सिद्धांत बोल रहे <clears throat> न करके कहा था सिद्धांत ने न तत्काल से भी गौण करते कहा यदि शरीर आदि में आत्मबुद्धि को गौण मानेंगे तो शरीर आदि में होने वाला जो कार्य है कर्म है वहां भी गौण मानना पड़ेगा गौण मानने पर आत्मा को अनर्थ सिद्ध तो नहीं हो सकता तो अनिष्ट नहीं होना है तो फिर अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्यों प्रयत्न करता है सब पहले तक चल रहा है इसका मतलब मिथ्या है इसलिए तो अनर्थ को हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है व्यक्ति ये कह रहे हैं ये तदेव तो प्रपंचन इसी को व्याख्या करते हैं उसके कर्म में भी गौण मानना पड़ेगा कहा था सिद्धांत ने यदि देहादि में आत्मबुद्धि को गौण मानेंगे देहादि के कर्म को भी गौण मानना पड़ेगा कहा था इसी को ही व्याख्या करते हैं आदो चौद्यो प्रपंच की पहले पूर्व पक्ष की बात रखते हैं क्या है माने देहादि में आत्मबुद्धि गौण है मिथ्या नहीं है जन्य नहीं है ये पूर्वादि का कहना है इसको पहले रखते हैं व्याख्या करते हैं आत्मीय कहा था ये पूर्वादि प्रमाण शक्ति ने कहा आत्मीय देहादि से कहा था आत्मा नहीं है आत्मीय है आत्मा संबंधी है तो आत्मा संबंधी को आत्मीय बोल वृद्धाक्षा अच्छा, आत्मा वृद्ध संज्ञक गए वृद्ध रेशा चमाते तद वृद्धम वृद्ध संज्ञक गए वृद्धाक्षा अच्छा, वृद्ध संज्ञ शब्द सब प्रत्यय लगा सब वही होता है आत्मीय आत्मा संबंधी ये कहना है आत्मीय देहा संघात है आत्मीय जो देहादि संघात है आत्मीय है आत्मा नहीं है अहम प्रत्येक गौण अहम प्रत्येक गौणी है यथा आत्मीय पुत्र जैसे आत्मीय होता है पुत्र आत्मा संबंधी होता है स्व संबंधी पुत्र होता है उस पुत्र में आत्मा वही पुत्र नामासी बोल रहा है पिता हे पुत्र आत्मा ही मेरे आत्मा ही हो मेरे स्वरूप ही हो तुम ऐसा बोल रहा ये कहना ये कहा शास्त्र में देखा गया कहते हैं अच्छा तत्र श्रुति अवस्था न दृष्टांत पूर्वादि मीमांसा गए पूर्वपक्ष तो श्रुति के सहारे से दृष्टांत देते हैं यथा आत्मा अभी पुत्र नामासी इत्यादि है तुम मेरे आत्मा ही स्वरूप ही हो यह पुत्र इत्यादि कहा हुआ होता है दर्शित से श्रुते जो कौशिक गुण से दृष्टांत दिया हुआ है दिखा हुआ श्रुति में आत्मीय पुत्र अहम प्रत्यय वहां आत्मीय पुत्र में पिता अहम लगा रहा है मेरा मैं स्वरूप ही हो ऐसा बोल रहा है तो अहम प्रत्योग गौण यथा जैसे गौण है वहां पुत्र में आपने बुद्धि जो कर रहा है पिता वो गौण है संघाते भी जो शरीर आदि संघात में भी जो आत्मा आत्मबुद्धि कर रहा है गौण है वो ये मीमांसक बोल रहे हैं संघाते भी शरीर आदि संघात में भी आत्मीय जो आत्मीय है आत्मा नहीं आत्मीय है संघात इसमें अहम प्रत्यक्ष तथा बने गौण अहम बुद्धि जो हो रही है गौण है तथा युक्त मानी गौण युक्त गौण होना चाहिए सिद्धांति बोलते हैं कि देखो भाई भेदधि पूर्वक तम गौण दियो लोके प्रसिद्ध ये पूर्वादि का कहना है वेद बुद्धि पूर्वक होता है लोक में भी देखा शास्त्र में देखा हाँ, मैं आत्मा भी पुत्र रामासी में मैं अलग हूं पुत्र अलग है ऐसा जानता है पिता प्रयोग करने वाला पुत्र भी जानता है मैं पिता नहीं पिता से अतिरिक्त हूं भेद बुद्धि पूर्वक होते हैं गौण इस प्रकार लोक में भी देखा है ये तो शास्त्रीय बताया लोक में भी है कहते हैं लोकेश इत्यादि का लोकेश मम प्राण एवं कहू लोग में भी देखा है ये ये बैल तो मेरा प्राण है इसके बिना मेरा कोई काम होगा ही नहीं जैसे प्राण के बिना शरीर में कोई काम नहीं हो सकता इस प्रकार बैल मेरा प्राण है तो बैल उसका प्राण तो नहीं है माने साधन है जीविका के साधन बनाओ या प्राण बनाओ उसने भेद में होता है गौण ये कहना है लोके कहा था ठीक है लोक वेदानुवेदन वेद में भी कहा हुआ है आत्मीय में आत्मबुद्धि हो जाती है और लोक में भी कहा हुआ है इस प्रकार शरीर और आत्मा में भी आत्मबुद्धि गौण है मिथ्या नहीं है ये पूर्वादि का कहना लोके लोक वेद अनुरोधन लोक और वेद दो दृष्टांत दिया है पूर्वादि ने आत्मीय संघात है जो आत्मीय संघात है शरीर है हम धीर अभी जो हम बुद्धि हो रही है शरीर में अभी गौणी ये बुद्धि गौणी है मुख्य नहीं है मिथ्या ज्ञान नहीं है गौणी से आप इति दाष्टान्त गौण सिद्धांत में घटाया पूर्वादि ने क्या घटाया लोके चापी अच्छा आगे दृष्टांत घटाया नैवायम मिथ्या प्रत्यय पूर्वादि बोलता है दृष्टांत घट है दाष्टान्तिक दृष्टांत का तद्वत बोल दिया यहां तद्वत यह दृष्टांत दाष्टान्तिक है उसी प्रकार शरीर में आत्मबुद्धि कौड़ी है जैसे लोक और वेद दोनों में आप कहा गया जो आत्मबुद्धि थी वो गौणी है इसी प्रकार दो दृष्टांत देकर तद्वत उसी प्रकार ये भी शरीर में आत्मबुद्धि कौन है मानी मिथ्या नहीं है एक कहा मिथ्याधियोपि भेद पूर्वकत्व समवाद आत्मीय संगाते हम धियो मिथ्या तुम कि इतिहास सिद्धांत की ओर से एक शंका कर दिया जाए तो मन मीमांसा के ऊपर मिथ्या मिथ्या बुद्धि भी जो होती है ना वह भी भेद पूर्वक संवाद भेद बुद्धि पूर्वक भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है भेद बुद्धि पूर्वक हो तभी ज्ञान हो सकता है वो तो आत्मीय संघात है आत्मीय जो आत्म संबंधी संघात स्व संबंधी संघात है शरीर है उसमें अहम धीय जो अहम बुद्धि हो रही है मिथ्या तो हमें क्यों मिथ्या ही माना जाए उसको भी जो भेद बुद्धि पूर्व होगी मिथ्या हो सकता संभव है तो आत्मीय जो संघात है शरीर आदि इनमें माने भेद ज्ञान होने पर भी मिथ्या बुद्धि बोल स्वत्व होने पर भी आत्मीय होने पर भी मिथ्या है ऐसे क्यों नहीं माना जाए सिद्धांत कहा तो पूर्वाजी नहीं मानी नैवायम मिथ्या प्रत्यय देह में जो आत्मबुद्धि हो रही मिथ्या नहीं है ये अज्ञान जन्य नहीं है अज्ञान जन्य जो होता है मिथ्या जैसे रज्जु में सर्प भाषता है अज्ञान जन्य है वह मिथ्या है ऐसा नहीं है देह में आत्मबुद्धि अज्ञान जन्य जो होता है मिथ्या होता है नैवायम मिथ्या प्रत्यय अयम ये जो शरीर में आत्मबुद्धि है ना मिथ्या नहीं है अयम प्रत्यय मानी जो बुद्धि है यह मिथ्या नहीं मिथ्या प्रत्यस्तु जो मिथ्या ज्ञान कहाँ होता है जहां विशेष ग्रहण नहीं होगा दोनों का तभी संशय स्थान होता है जनसांश होता है मिथ्या ज्ञान होगा जैसे थाणो हुआ पुरुष हुआ बोलता है व्यक्ति कहा मिथ्या प्रत्यस्तु थाण पुरुष हो जो संशय जहां होता है उस स्थान में मिथ्या ज्ञान बोला जाता है अग्रियमाण विषय हो यदि विशेष ग्रहण होता पुरुष का हाथ पैर आदि दिखता तो थाणु वृत्ति नहीं बनती वक्र कोटल आदि दिखता तो पुरुष बुद्धि नहीं होती विशेष दोनों का ग्रहण हुआ थाणु का जो विशेषता और पुरुष का विशेषता दोनों नहीं दिखी गई सामान्य खड़ा खड़ा एक व्यक्ति दिखा गया ऐसी स्थिति में वही होती है क्या संशय हो जाता है संशय स्थान में विद्या बुद्धि होती है यहां संशय नहीं है ठीक है बुद्धि तो वही होती है थाण पुरुष और गृहमाण विशेष राजा गृह गृहमाण नहीं गृह नहीं विशेष गृह नहीं है दोनों का न तो कोटर आदि मत तो दिख रहा है ना हस्त पाद आदि मत तो दिख रहा है हाथ पैर आदि दिखता तो थानु ने संशय नहीं होता यदि कोटर आदि में जो पक्षी रोने के घोसले बनाने के जगह हो जाते हैं ना कोटर बोलते हैं उसको खोखला पना आ जाता है स्थान स्थान पर टेढ़ा मेढ़ा पना वो दिखता है यदि तो पुरुष नहीं मानता जहां पर विशेष का ग्रहण नहीं होता वहीं पर मिथ्याभूति होती है संशय स्थान में और शरीर और शरीर में जो आत्मबुद्धि है वो मिथ्या नहीं है या संशय नहीं है संशय स्थान होता वो तो ये मीमांसा ने कहा सिद्धांत कहेंगे ना ये मिथ्या बुद्धि नहीं शरीर में गौण नहीं है आत्मबुद्धि मिथ्या ही है ये सिद्ध करना है गौण प्रत्यय से मुख्य कार्यार्थत्व अधिकरण तृत्यार्थत्वात लुप्त उपमा शब्द है ना गौण प्रत्यय जो होता है ना जैसे सिंह देवदत्त अग्निर्माण वगैरह इत्यादि प्रयोग किया जाता है ये देवदत्त जो है ये तो शेर है माने उसमें क्रूरता है क्या है क्रूरता को लेकर बोला गया अग्निर्माण वगैरह ऐसा दिखा दिया बोला ये तो अग्नि है माने पैंगल्य बन रहा है उसका अग्नि के आकार वाला आकार है इसको लेकर के कहा गया इत्यादि माने तेजस्वी को लेकर जैसे अग्नि प्रकाशयुक्त है ये भी प्रकाशयुक्त है तेजस्वी पना को लेकर के बालक को अग्नि बोल दिया जाता है गौण प्रत्यय से जो गौण ज्ञान जहां होगा ना उसका मुख्य कार्यार्थत्व जो मुख्य कार्य का अधिकरण चुत्यर्थत्व मुख्य जो था सिंह और अग्नि उसके कार्य इसमें दिखा रहा है उसके अधिकरण की स्तुति के लिए जहां पर हम बोल रहे हैं सिंगो माड़व का तो उस माड़व की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए अरे ये तो शेर है ये तो अग्नि है ऐसा बोल दिया गया किसके लिए उसकी स्तुति के लिए प्रशंसा है ये अग्नि शब्द कहना इसके लिए प्रशंसा है इसके लिए होता है गौण शब्द बहुत प्रयोग होता है कहा सिद्धांत ये बोल रहे गौण प्रत्यक्ष मुख्य कार्य अर्थात तुम मुख्य कार्य के प्रयोजन है मुख्य में जो कार्य होता है वो कार्य दिखाना चाहते हैं जैसे सिंह माड़ वक्त में सिंह में क्रूरता है तो इसमें भी क्रूरता है वो कार्य दिखाने के लिए उसके है जो कहा जा रहा है सिंह आदि का जो सिंहत्व आदि का जो क्रूरत्व आदि का जो अधिकरण होगा क्रूरत्व सूरत्व का अधिकरण कौन या बालक को बोला जा रहा है तो तुत्यर्थत्व तो तो लुप्त हुआ सौ देना देखो जब सादृश्य देना हो तो ईवा लगाना पड़ता है या ईवर नहीं लगाया सिंह माणव सिंह ईवा माड़ होगा ऐसा होता है क्या होता है हाँ, सिंह जैसा बालक बोला जाता है क्या बोला जाता है जैसा लगाने से वो नहीं होता तो जैसा शब्द लगा देंगे वो व्यक्ति नहीं होगा भिन्न होता है या उपमा लुप्त करके पड़ा हुआ वाक्य है कौन वाक्य सिंगो मानव कहा अथवा सिंगो देवदत्त इत्यादि उपमा नहीं दी गई उपा छिपा हुआ है ये कह रहे हैं गौण प्रत्यय जो होता है ना मुख्य कार्यार्थत्व गौण गौण में गौण प्रत्यय का क्या होता है जहां गौण ज्ञान होगा मुख्य कार्यार्थत्व अधिकरण मुख्य कार्य का विषय प्रयोजन दिखाना है वहां मुख्य का जो कार्य वो कार्य दिखाना है अधिकरण जहां पर सिंह आदि के जो अधिकरण तो शब्द का अधिकरण बनना है तो तो उसकी प्रशंसा के लिए है लुप्त उपमा शब्द का जिसमें उपास सादृश्य लुप्त कर रखा है इसके द्वारा कहा गया है कि सिंह बाढ़ हुआ युवा शब्द नहीं दिखता किंतु युवा है ऐसा देखा यथा सिंहो देवदत्ता अग्निर्बाण का यदि दो जगह प्रयोग कर दिया ये देवदत्त तो सिंह है सिंह में जैसे क्रूरता है यह क्रूरता इसमें भी है इसको लेकर के अथवा सूरता है वहां इसमें सूरता है इसको लेकर के दिया जाता है सिंहो देवदत्ता माना सिंह में जो क्रूरत्व और सूरत्व है उसका अधिकरण कौन है देवदत्त है ये भी सूर है क्रूर है इसके लिए प्रयोग कर दिया जाता है यथा सिंह देवदत्त कहा अथवा अग्निर का जैसे ये बालक तो अग्नि है माणव बालक ये बालक तो अग्नि है तेजस्वी पना को लेकर के इति सिंह इव अग्निरिव ऐसा अर्थ आता है वहां क्या आता है सिंह देवदत्त का अर्थ है सिंह इव देवदत्त सिंह जैसा है ये जैसा लगाने से सिंह नहीं है ये सिंह से भिन्न है कुछ धर्म इसमें देखते हैं वहां के धर्म यहां देखते हैं सिंह इव अग्निरिव हाँ, सिंह इव देवदत्त अग्निरिव माणव यह अर्थ निकलता है वहां क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्य वत्वाद कहते हैं वह सादृश्य को लेकर सामान्य सादृश्य है क्रूरता सादृश्य जैसे सिंह में क्रूरता को लेकर के देवदत्त में क्रूरता है उस सादृश्य को लेकर सिंह बोल दिया और जैसे वहां पर अग्नि में पीला पीलापना है बच्चे भी पीला पीलेपना का है सुंदर है इसको लेकर के अग्नि अग्निर्माण को बोल दिया गया एक क्रौर तो पंख्या लिया सामान्य वत्व मतलब असामान्य सादृश्य वत्व सादृश्य होने के कारण देवदत्त माणव को अधिकरण स्तुत्यर्थ वहां तुति का अधिकरण कौन है देवदत्त और मानव के बच्चा है उन्हें कुरुरत्व तो, सुरत्व का अधिकरण होता है देवदत्त और पिंगलत्व का अधिकरण होता है माणव और कुरुरत्व का अधिकरण देवदत्त है उसके तुति के लिए अरे ये तो सिंह है उसकी प्रशंसा होती है इस वाक्य से अरे ये तो अग्नि है उसकी प्रशंसा है तो अधिकारी जो क्रूरत्व और माणव के पिंगलत्व के अधिकरण है उसके तुति के लिए वाक्य प्रयोग किया जाए सिंह देवदत्ता अग्निर्माण किंतु न तो देहादि में ऐसा नहीं है वो गौण प्रयोग है जो सिंह को देवता और बाल होगा वो गौण है ऐसा यहां नहीं है देहादि में ठीक है न तो सिंह कार्यों अग्नि कार्यों का गौण शब्द प्रत्यय तब किसे साथ देते हम कहते गौण ज्ञान हो गया ये सिंह है और ये अग्नि है करके बालक के लिए अग्नि का प्रयोग गौण प्रयोग हो गया वो सिंह का कार्य देवदत्ता कर नहीं सकता वो हिंसा आदि करेगा कौन सिंह ये कर पाएगा नहीं कर सकता हम्म। और जो पिंगल का कार्य है क्या अग्नि का कार्य ये खाना पका सकता है शरीर में पतीले रखने के बाद नहीं कर सकता मुख्य कार्य नहीं कर सकते ये हम्म। जहां गौण प्रयोग होता है मुख्य का कार्य संपन्न नहीं होता उन्होंने ये कहते हैं न तो सिंह कार्य अग्नि कार्य सिंह का कार्य क्रूरत्व है अथवा अग्नि का कार्य जो हाँ, दाहकत्व है यह सब गौण प्रत्यय शब्द निमित्तम हाँ, गौण शब्द प्रत्यय निमित्त गौण शब्द के निमित्त अथवा गौण ज्ञान के निमित्त किंचित न साध्य थे कोई सिद्ध नहीं हो सकता गौण में कार्य मिथ्या प्रत्यय कार्य तो अनर्थम अनुभवती और मिथ्या पर ज्ञान हो रहा है शरीर आदि में आत्मबुद्धि इसका तो अनर्थ आत्मा भोग रहा है अनर्थ का भोग होता है माने गौण प्रत्यय से क्या होगा मुख्य का काम नहीं कर सकता है और शरीर का काम यहां आत्मा कर रहा है ये गौण प्रयोग होता यदि तो शरीर का कर्म का आत्मा को अनर्थ नहीं मिलना चाहिए था यह आत्मा को अनर्थ मिल रहा है इसलिए मिथ्या ज्ञान यह शरीर में आत्मबुद्धि गौण नहीं है इस सिद्धांत बोल रहे हैं गौण प्रत्यय विषम से तो जाना थी और देखो गौण जहां गौण ज्ञान का जो विषय बनता हो जैसे सिंगो देवदत्ता देवदत्त तो गौण ज्ञान का विषय है मुख्य सिंह तो है ही नहीं वो वो जानता है गौण ज्ञान का विषय जानता है क्या जानता है नैश सिंह मैंने ये शब्द प्रयोग करने वाला है सिंहो देवदत्त प्रयोग करता है जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा शब्द का वो भी नहीं से देवदत्ता सिंगा ये सिंगा नहीं देवदत्ता ये समझता है वो उस आदृश्य के कारण बोला है उसने उसकी प्रशंसा के लिए किसके लिए किंतु वो व्यक्ति जानता है शब्द प्रयोग करने वाला सिंह देवदत्त बोलने वाला समझता है ये सिंह नहीं है वो समझता है भेद बुद्धिपूर्वक होता है यहाँ शरीर और आत्मा में अभेद बुद्धिपूर्वक हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ भेद बुद्धि नहीं है यदि भेद बुद्धि होती तो शरीर के कर्म को अपने में नहीं मानता अपने में नहीं मानता दे अपने मान रहा है वो एक हाँ। गौण प्रत्यय विषय जो गौण प्रत्यय का विषय होगा गौण प्रत्यय का विषय को जानाती गौण प्रत्यय का विषय को समझता है शब्द प्रयोग करने वाला व्यक्ति सिंह देवता का होगा रहस्य सिंह देवता तह से सिंह नहीं हो सकता समझता है और अयम अग्नि बाढ़ का न हमें लगा लगाना ये बेबच्चा क्या ये माड़ जो अग्नि नहीं है ये जानता है शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति तथा गौणे न इसी प्रकार गौणे न देहादि संघाते न आत्मा कृतम कर्म न मुख्य न अहम प्रति विषय न आत्मा कृतम श्याम इसी प्रकार यदि गौण होता देह में आत्मबुद्धि गौण होती तो देह के द्वारा किया गया जो देहादि संघात के द्वारा किया हुआ कर्म है वो तो कर्म में न मुख्य ना हम प्रत्यय विषय ना आत्मा कृतम से फिर क्या होता मुख्य जो आत्मा है हम प्रत्यय का जो विषय होता है आत्मा उसके द्वारा किया हुआ नहीं होता वो कर्म यहाँ आत्मा के द्वारा किया हुआ मान्यता आ रही कर्म को मैं कर, हम कर्म भी बोल रहा है इसलिए मिथ्या बुद्धि है गौण नहीं कर सकते ये कहना है नहीं गौण सिंह अग्नि व्याम कृतम कर्म जो गौण सिंह है अथवा अग्नि है कौन बालक अथवा देवदत्ता गौण सिंह है देवदत्ता मुख्य नहीं है और गौण अग्नि है कौन बच्चा मानव उनके द्वारा किया गया जो गौण में कर्म होगा वो कर्म मुख्य सिंह अग्नि और कृतम से मुख्य सिंह और अग्नि के द्वारा किया हुआ नहीं सकता ये भोजन आदि करते हैं जो भी करते हैं वो कर्म मुख्य सिंह का नहीं है गौण का किया हुआ कर्म मुख्य का नहीं होता गौण अग्नि के द्वारा किया हुआ कार्य बालक को गौण अग्नि उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है अग्नि का नहीं होता और यहां हो रहा है गौण माने जिसको गौण मान रहे शरीर आदि का कर्म का आत्मा मान रहा है हम करो भी करके मान रहा है मिथ्या नहीं है मिथ्या गौण नहीं है मिथ्या है न तो क्रौरेण पैगल्य वाह देखो सिंगो देवता क्रूरता को लेकर क्या गुण है वो क्रूरता गुण है और पिंगलता अग्नि का पिंगलता है ये दोनों के द्वारा किया हुआ मुख्य सिंगाग्नो कार्यम क्रौर के द्वारा अथवा पिंगल के द्वारा किया हुआ कार्य मुख्य सिंहाग्नि कार्य केंद्रित क्रिया थे मुख्य सिंह और अग्नि का कार्य नहीं किया जाता न पिंगल से न क्रौर्य से तृत्यर्थत्व न भूषण वो तो उसकी पिंगलत्व और सौर्यत्व को अधिकरण की स्तुति में क्षीण हो गया किसमें हो गया उसकी प्रशंसा है अरे ये तो शेर है ये तो अग्नि है उसकी प्रशंसा में क्षीण हो गया है उनके द्वारा किया हुआ कार्य मुख्य का नहीं होता और यहां मुख्य में दिख रहा आत्मा में दिख रहा है किसमें दिख रहा है शरीर आदि के किया हुआ कर्म आत्मा में अहम करो भी बोल रहा है करने वाला व्यक्ति ये मिथ्या है गौड़ ने कहा स्तूय मानव तो जानी तकत है जो शिष्य तुति की जा रही है देवदत्त और बालक की ये दोनों जान रहे हैं वो भी जानते हैं क्या जानते हैं ना हम सिंह देवदत्त तो जो तुति की जा रहे सिंहो देवदत्त जिसकी प्रशंसा की जा रही वो जानता मैं सिंह नहीं हूं ऐसा जानता है वो नाम अग्नि अभी क्या का कहा था उसकी तुति के लिए कहा था वो बच्चा जानता है मैं अग्नि नहीं हूं भेद बुद्धि है यहां और शरीर और आत्मा में अभेद बुद्धि है इसलिए इसे गौण नहीं मान सकते ये कहना है यदि न सिंह से कर्म मम अग्नि से हाँ सिंह का कर्म मेरा नहीं है अग्नि का कर्म मेरा नहीं दोनों जानते हैं कौन जानते हैं देवदत्ता बालक दोनों जानते हैं तथा उस प्रकार ये आत्मा और शरीर में ऐसा भिन्न नहीं जानते कहते हैं न संगात से कर्म मम मुख्य से आत्मा नहीं थी प्रत्यय युक्त तरस्या न संगात से कर्म संगात का कर्म मेरा नहीं है ऐसा ये ज्ञान होना चाहिए आत्मा को किंतु नहीं हो रहा है हम करो भी बोल रहा है मैं करता हूं बोल रहा है मुख्य से आत्मा आत्मा का नहीं होना चाहिए यदि गौण ज्ञान हो तो शरीर का कर्म आत्मा का नहीं होना चाहिए प्रत्यय युक्तता ये प्रत्यय होना ही नहीं चाहिए न पुनर्हम करता मम कर्म यदि फिर ये नहीं होना चाहिए मैं करता हूं ये मेरा कर्म है बुद्धि नहीं होनी चाहिए यदि भेद ज्ञान होता तो जैसे गौण प्रयोग में भेद ज्ञान प्रयोग होता है क्या भेद ज्ञान होता शरीर और आत्मा में तो शरीर के कर्म को आत्मा में नहीं लाता इसलिए मिथ्या ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान के कारण कर्म हो रहा है एकता हो रखी है अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का ज्ञान है ठीक है समय हो गया फिर कर गया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ